ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन बहनों भाइयों जमाने में कई बड़े बड़े सिंगिंग स्टार्स मौजूद थे फिल्मी दुनिया में जैसे हसीन सुरैया जिन्होंने खुद गाया था ये गाना और उस फिल्म में स्क्रीन पर उनके साथ कौन थे याद है आपको जी राज कपूर तो जरा सुनिए हीरोइन सुरैया ही की आवाज में राज कपूर और उस तारारी वाले गीत के बारे में इस सीन में मेरी दो चोटियां थीं हाँ। राज बार बार मेरी चोटियां खींच लेते थे कभी मेरे बाल बिगड़ जाते थे और कभी मियाँ कारदार बिगड़ जाते थे अच्छा। और राज कह देते थे कि क्या करूं सुरैया की चोटियां मुझसे आदतन खिंच जाती हैं अच्छा। अमीन साहब रात काफी ढल चुकी थी और तारारी अभी आधा ही पिक्चराइज हुआ था उस पर हम दोनों का नींद के मारे वो बुरा हाल था कि तारारी एक तो वॉल्स रिदम में था नाचते हुए हम दोनों के पांव पर पांव आ जाते थे <laughs> कारदार साहब ने हमें जगाने के लिए एक तरकीब निकाली अच्छा अच्छा वो क्या तरकीब थी सुरैया जी वो ये थी कि आधे गाने के बाद उन्होंने सीन इस तरह जमाया हम्म। कि जैसे बरसात हो रही है अच्छा। और हम पानी में भीगते हुए भी गा रहे हैं हम्म। बस साहब स्टूडियो के झरने खुल गए और उसके साथ ही हम दोनों की आंख भी खुल गई <laughs> ओके अब जरा ये सुनिए बहनों भाइयों कि उन्नीस में जब गीतमाना का प्रोग्राम रेडियो सिलोन पर शुरू होने वाला था तो उन दिनों किसी को पता ही नहीं था रेडियो सिलोन की लाजवाब पॉपुलैरिटी के बारे में असल में वजह ये थी कि रेडियो सिलोन पर ज्यादातर हमारा फिल्मी संगीत ही बजता था जिसका गोल्डन पीरियड यानी कि सुनहरा दौर शुरू हो चुका था और ऑल इंडिया रेडियो ने न जाने क्यों फिल्मी गीत बजाना बिल्कुल बंद कर दिया था टोटली बैंड तो इसका नतीजा ये हुआ कि जहां ये सोचा जा रहा था कि गीतमाला के पहले प्रोग्राम के कंपटीशन के लिए चालीस पचास सौ से ज्यादा क्या ही चिट्ठियां आएंगी वहां चिट्ठियां आई कितनी नौ हजार भाई पहले तो मैं उछला कि वाह प्रोग्राम हिट मगर फिर फौरन मैं सर पकड़कर बैठ गया और बोला हाय सारे खतों की चेकिंग भी तो मुझ अकेले ही को तो करनी है मगर शुक्र है बना भैयू कि फिर मुझे न सिर्फ थोड़ी सी मदद मिली बल्कि बहुत सारी हिम्मत भी मिली क्योंकि मुझे यूं लगा जैसे मेरी उलझन देखकर माला के सुनने वाले और गीत माला के गीत मुझसे कह रहे हो मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुसन तेरा बेकार मैंने तुझसे किया है प्यार मान मेरा एहसान अरे ना जान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार उल्फत न सही नफरत ही सही ओ उल्फत न सही नफरत ही सही इसको भी मोहब्बत कहते हैं तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं तेरे भी दिल में आग उठी है जाग जबा से चाहे न कर इतरार मैंने तुझसे किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुसन तेरा बेकार मैंने तुझसे किया है प्यार अपना न बना लूं तुझको अगर अपना न बना लूं तुझको अगर एक रोज तो मेरा नाम नहीं पत्थर का जिगर पानी कर दू ये तो कोई मुश्किल काम नहीं छोड़ के अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग मान ले अपनी हार मैंने तुझसे किया है प्यार मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार थैंक यू थैंक यू बहन भाइयों आपने उन्नीस के उस पहले प्रोग्राम से लेकर गीतमाला के जीवन के पूरे करीब 45 वर्षों तक इसे बहुत बहुत प्यार दिया रेडियो सिलोन पर भी यानी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर भी और बाद में ऑल इंडिया रेडियो की विविध भारती स्टेशनों पर भी अच्छा खैर साहब अब लौट आइए गीत माला के शुरू के दिनों में फिर से हैं उन्नीस सौ बावन और तिरपन की गीत मालाओं में कभी कभी मैं कुछ गाने उससे भी पुराने जमाने के बजाया करता था खासकर दो महान गायकों के जिनमें से एक थे पंकज मलिक पंकज मलिक के गाने तो मुझे बचपन ही से बहुत पसंद थे साहब क्योंकि वो करीब करीब सभी गाने बड़े जोश के साथ गाया करते थे जैसे कोई पहलवान गा रहा हो या कोई सिपाही गा रहा हो खासकर एक गीत था जिसके बोल तो मुझे बराबर समझ में नहीं आते थे उन दिनों मगर मैं यही सोचा करता था कि अरे वाह ये गाना जरूर कोई सोल्जर गाता होगा जब वो अपने फ्रेंड से मिलने को जाता होगा पिया मिलन को जाना हाँ, पिया मिलन को जाना जग मन की मौज दोनों को निभाना पिया मिलन को जाना पिया मिलन को जाना काटे बिथरा के चलू पानी झलका के चलू काटे बिथरा के चलू पानी झलका के चलू सुख के लिए देख रखू सुख के लिए देख रखू पहले दुख उठाना पिया मिलन को जाना पिया मिलन को जाना को बांध के पायल को बांध के युक्ति चुगनान के पायल को बांध के धीरे धीरे दबे दबे पाँव तो बढ़ाना पिया मिलन को जाना पिया मिलन को जाना दिए अधेरी रात आंखों पर दोनों हाथ बुझे दिए अधेरी रात आंखों पर दोनों हाथ कैसे कटे कठिन बात कैसे कटे कठिन बात चल के आजमाना पिया मिलन हो जाना पिया मिलन को जाना ज्ञान पिया मिलन को जाना ज्ञान पिया मिलन को जाना पिया मिलन को जाना पिया मिलन को जाना मगर बहनों और भाइयों यू वोंट बिलीव कि अभी कुछ ही साल पहले मैंने टीवी के म्यूजिकल कंपटीशन में एक मॉडर्न से 10 साल के लड़के को यही पिया मिलन को जाना गाते हुए सुना था तो इससे लगता है कि उन पुराने गीतों में कुछ तो बात थी जरूर जो उन्हें सदा बहार बनाए रखती है और दोस्तों आज भी दुनिया में जहां जहां मेरे रेडियो प्रोग्राम बचते हैं ना तो कई बार नौजवान सुनने वाले भी खास तौर पर नौजवान लड़कियां मुझे लिखकर बताती हैं कि Amin, uncle, although we love today's fast tempo, dhoom dham, swinging music, मगर कभी कभी आप पुराने sweet and gentle romantic गाने बजाते हैं ना तो वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो ओके स्वीट हार्ट लो एक और स्वीट गाना सुनो मेरी खुशकिस्मती है कि गीतमाला के जरिए और जो रेडियो पब्लिसिटी बड़ी बड़ी फिल्मों की मैं उन दिनों किया करता था उसकी वजह से मुझे उस जमाने के सभी बड़े बड़े गायकों गायिकाओं शायरों और संगीतकारों और फिल्म स्टारों को भी बहुत करीब से जानने का मौका मिला इनमें एक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे वो थे बहुरंगी कलाकार किशोर कुमार भाई एक बार मैंने किशोर कुमार का एक अनोखा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया एक फिल्मी मुकदमे की शक्ल में जी हाँ जिसमें वो खुद मुलजिम भी बने और जज भी बने पहले तो भाई कुछ बातचीत होती रही उनके गाने वाने की मगर उसके बाद जज किशोर कुमार ने बात छेड़ी किशोरदा की एक्टिंग के बारे में मगर फिर तुझे एक्टिंग शुरू करने की क्या जरूरत थी पगले <laughs> इसके लिए भी आप मेरे बड़े भाई पर केस कीजिए उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर एक फिल्म खनीज में एक छोटा सा रोल दिलवा दिया और वो रोल <laughs> वो रोल भी क्या पागल का जिसमें मैंने आधी मूछ लगाकर एक गीत भी गाया है हम्म तो वो गाना अदालत को सुनाया जाए हम अपने कान बंद कर लेते हैं गाओ बम बम तो बहनो भाई सुना आपने किशोर कुमार ने बताया कि उनकी पहली फिल्म जो थी एज एन एक्टर उसका नाम था कनीस और भाई अब मैं लौट आता हूँ आपके पास गीतमाला की छाव में जहाँ बैठे बैठे अब यू लगता है कि रात हो गई है और वो देखिए जगमग जगमग कर निकला चांद पूनम का प्यारा जगमग जगमग करता निकला चांद पूनम का प्यारा मेरी चांदनी बिछड़ गई मेरे घर में हुआ अंधियारा जगमग जगमग करता निकला चांद गुलम का प्यार मधुमासी रातें ठंडी ठंडी हवा के झोंके तेरे बिना मेरे पूने जिगर में बिरह की अग्नि फूके चढ़ गई मेरे घर में हुआ अधियारा जग मग करता निकला आज पूनम का प्यारा शीतल शीतल किरने चाँद की शीतल शीतल किरने बिरहा के बान चलाए रात चांदनी दिया जलाए अंग में आग लगाए ये बसंत की रात में सुलझूं जैसे कोई अंगारा मेरी चांदनी बिछड़ गई मेरे घर में हुआ अधियारा जगमग जगमग करता निकला चांद को नंगों का प्यार अरे साहब क्या बताऊं आपको किशोर कुमार की तो इतनी यादें हैं मेरे दिलो दिमाग में कि दिन भर बोलूं तो भी खत्म न हो मगर डरता हूं कि अगर मैं ज्यादा बोला ना तो कहीं उनकी आत्मा आकर मुझे टोक न दे ऐसे अमीन भाई तुम बहुत बहुत बहुत बोर करने लगे हो अरे किशोरदा भला इसी में है कि तुम चुप हो जाओ नहीं नहीं किशोरदा बस थोड़ा और बोल लेता हूँ प्लीज प्लीज नहीं नहीं आपके बारे में नहीं गीत माना के पुराने चाहने वालों के बारे में ऐसा हाँ तो ठीक है thank you thank you very much Kishoreda <laughs> तो बहन और गीतमाला की छाओ में इस वॉल्यूम में मैंने अभी कुछ देर पहले गीतमाला के एक शानदार श्रोता फैन का नाम लिया था अनिल भार्गव जिनके पास इस प्रोग्राम की इतनी सारी जानकारी है कि मेरे पास भी नहीं है इतनी और गीतमाला की छाओ में के आने वाले वॉल्यूम्स में ऐसे और भी कई जोरदार वफादार पुराने फैंस के नाम आएंगे जी हाँ और इनके अलावा उन बहुत सारे रेडियो क्लब्स यानी श्रोता संघों के भी नाम आएंगे जिन्होंने गीतमाला की लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं और इसके अलावा कई मजेदार घटनाएं भी आएंगी उस धूम मचाने वाले रेडियो प्रोग्राम की धमाकेदार जवानी और मीठे से बचपन की मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना देखो देखो हसे न जमाना बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना देखो देखो हंसे न जमाना जमाना से आजाद भारत का बचपन भी जोड़ा हुआ था अंग्रेजों से आजादी तो मिल चुकी थी मगर हिंदुस्तान का आधा दिल और आधा बदन कटकर पाकिस्तान में ढल चुका था बंटवारे के खून खराबे के शूलों को महात्मा गांधी जी की हत्या और हवा दे चुकी थी ऐसे में नफरत के घाव भरने में अमन और शांति का अमृत छड़कने में और प्यार मोहब्बत के दीप जलाने में बहुत बड़ा काम कर रहे थे हमारी हिंदी फिल्मों के मधुर गीत और यही काम आपकी गीतमाला भी उम्र भर करती रही उन शानदार गीतों के सहारे और बहनों भाइयों आज गीतमाला की छाओ में भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि पुरानी भी और नई भी सारी कड़वाहटें सारी नफरत हटाइए अपने दिल से बल्कि दिल पर हाथ रखकर अपने गुजरे हुए सुहाने जमाने की खुशबुएं समेटिए वरना अगर आप अपनी उन सुहानी पुरानी यादों को भूल गए ना तो वो यादें तड़प कर कहेंगी दिला सायों का ये गीत सुनकर बहनों और भाइयों आपको वो हसीन चेहरा भी याद आ गया होगा जिसने स्क्रीन पर ये गीत अदा किया था जी हाँ मीना कुमारी तो अब मीना कुमारी ही की मधुर आवाज को मैं माजी के धुंधल को निकालकर आपको सुनवाता हूं कि मेरे एक इंटरव्यू में मीना जी ने मोहे भूल गए सावरिया वाले गीत की सुरों की मलिका को कैसी शानदार सलामी दी थी लता मंगेशकर उनकी दरखास्त जो उन्होंने बेहतरीन गायिका के इनाम पाने पर इनाम देने वालों से की थी आपने भी सुनी होगी ना कौन सी दरखास्त मीना जी यही कि अब आइंदा मुझे ये इनाम ना दिया जाए बल्कि उन नए कलाकारों को दिया जाए जिनका ये हक है उन्होंने हौसला बढ़ाने को हक कहकर कितनी बड़ी बात की जैसे किसी शहनशाह ने किसी अनजाने बिना ताश के बादशाह को पहचान कर उसके लिए अपना तख्त छोड़ दिया हो बहनों और भाइयों ऐसे सभी all time great playback singers की आवाजें भी और सभी महान संगीतकारों और गीतकारों का काम भी मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ गीतमाला की छाव में तो बस आप एक के बाद एक गीतमाला की छाव में के सभी वॉल्यूम सुनते रहिएगा अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं नहीं नहीं भाई गर्लफ्रेंड वैसे बीवी भी तो हो सकती है ना और बॉयफ्रेंड क्या पति नहीं हो सकता साथ मिलकर प्यार की सुरीले सपनों का मजा लेने के लिए हुँ? हम्म? बस तो भाई अब ये कबाब में हड्डी यानी आपका रेडियो साथी अमीन सायानी अगले वॉल्यूम तक चुपके से जाता है खिसक और आप हाथ में हाथ लेकर करते रहिए दिल लगी बाय दिल में समा गए फूल खिले चमन चमन प्यार भी मुस्कुरा दिया दिल में समा गए सजन फूल खिले चमन चमन प्यार भी मुस्कुरा खुशी भरी हवा चली हंसने लगी कली कली तुमसे मुझे मिला दिया मस्ती भरी हवा चली झलक कभी तेरे लिए पुकार